अभी हम जितने भी मेधावियां यहां उपस्थित हैं इनके बीच में मध्यस्थ दर्शन के संबंध में जो कुछ भी बातें हुई और शंकाएं इस प्रकार से उद्भूत हुई कि विगत में बुद्ध दर्शन को यह मध्यम मार्ग नाम दिया है ये मध्यस्थ दर्शन से ऐसा ध्वनित होता है ये मध्यम मार्ग का तो काम नहीं है ये मूल शंका ऐसा उत्पन्न है उसके उसके साथ ये बात स्पष्ट किए गए कि वे उस तत्काल में जो एक दक्षिणाचार वामाचार थी इन दोनों के बीच में एक आचरण आचार संहिता को बुद्ध ने प्रणीत किया उसको मध्यम मार्ग नाम दिया है यद्यपि इसका आधार भिन्न है इसके बावजूद भी आपका ऐसा पूछना है इसका आगे और भी जो दर्शन में जो प्रतिपादित किए हैं उन मुद्दे पर ध्यान का ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं वो ये है आगे चल के दर्शन में ये प्रतिपादन हुई है ये मध्यस्थ क्रिया मध्यस्थ दर्शन मध्यस्थ जीवन मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति क्यों प्रतिपादित किया तो मध्यस्थ जीवन को इस इस आधार पर प्रतिपादित किया है समयशम मध्यस्थ शक्तियां होते हैं मध्यस्थ शक्ति जब जागृत होता है विषम दोनों मध्यस्थ के अनुरूप कार्य करते रहते हैं इस बात को प्रतिपादित किया है मध्यस्थ बल का मतलब है तो अनुभव मूलक विधि से हम व्यक्त होने से मतलब रहा मध्यस्थ जीवन का मतलब है अस्तित्व में अस्तित्व जैसी परम सत्य में अनुभूत होकर प्रमाणित करने की क्रियाकलाप को मध्यस्थ जीवन के नाम से नाम दिया है यदि ये ये बात यदि गले से उतरता है मैं समझता हूं ये मध्यस्थ दर्शन का सार्थकता आपको भी समझ में आएगी हमें भी समझ में आएगी